नीस कौम आद में भी हमने ऐसी ही निशानी छोड़ी थी जब हमने उन पर एक ऐसी आंधी भेजी जो हर बेहतरी से बांझ थी